निर्वाचनम चिन्ह यश चित्त प्रतिबिंब से जिस चित्त प्रतिबिंब के अंदर ऐसा होता है ज्ञान लक्षण चिन्ह बना रहता है सब उसको कर दिया अविवेकात्मक है और विस्तार कर चित्तंत्र ही अनिर्वाच्य अज्ञान चित्त प्रधान होकर के ही अनिर्वाच्य ज्ञान में अनुभव होता है तभी जाकर चैतन्य अवच्छिद्य स्वावच्छिन्न स्वरूपाभाषण प्रतिबद्ध वह चैतन्य का उच्छेद कर देता है ज्ञान और स्वावचन चैतन्य को अपने ऊपर प्रतिबिंबित कर देता है यथा स्वरूप भाषण प्रतिबद्ध उसका यथार्थ स्वरूप था उसका बोध होने रोग भी आवरण बन करके और मौर्य अध्यास तो रोधी मूढ़ता ज्ञानता जड़ता आदि के अध्यास का कारण बन जाता है अन्य अविवेकात्मक जीव है इस ऐसा जीव को हम अन्य अविवेकात्मक जीव जो अज्ञान आवृत है एक दूसरा भी है जो अज्ञान आवृत नहीं है वहां भी भी अज्ञान है कि अज्ञान आवृत अनुभव नहीं होता तो कैसे होता है उसके लिए मूल मिलाया भाष प्रधान चक्षराई करो नित्य स्वरूप आत्मा अंत सारो जो कल्पना था बुद्धि जो नीचे बुद्ध है मन अंत यथा यथा नील पीता के आकार जायेंगे जैसे जैसे नील पीता के आकार थोड़ा बुद्धि का अभाव होता है उसको बुद्धि अवभाव करते हैं बुद्धि अवभाव आएगी बुद्धि अवभाषा प्रधान कैसे तथा तथा प्रतिबिंब प्रधान क्यों हो जाते हैं लेकिन उसमें वैसे वैसे चित्र प्रतिबिंब हो जाता है प्रमाणकृत्वाद रूपेण भाग मैं नील रूप को जानने वाला हूँ तो तीन रूप को जानने वाला हूँ इत्यादि प्रमाण तृत्व रूप से भी वो जानने लगता है तत्वानो अध्यस्त विशिष्ट तो वही है प्रधान जो ऐसा जो अध्यस्त वस्तु है विशिष्ट वस्तु है तत्सत्व सत्य सत्ता विशिष्टांतर हो उसकी सत्ता को लेकर जो पादृष्ट अध्यास की सत्ता को लेकर के ही सत्यादि पुरुष विशिष्ट होकर के अपने विशिष्ट आत्मा को मानता है यह आत्मा नित्य च स्वरूप जो आत्मा नित्य च स्वरूप सैव सारो ये वही वास्तव में सार है मन स्थिर है जिसमें पांच विशिष्ट अविवेकात्मक जो है यानी अविवेकात्मक जो जीव है उसको पहला पक्ष में समझो और दूसरा है वो आवर्त विलक्षण है बौद्ध प्रत्यानाम जो आज से यहाँ से चलेगा बौद्ध प्रत्यानाम आविर्भाव भाव धर्म हर धर्म तो यही विलक्षण होती अवभाष के मूल में ने कहा बौद्ध प्रत्याराम जो बुद्धि वृत्ति से होने वाला ज्ञान वो कैसे होते हैं आविर्भाव भाव धर्म वाले होते हैं उसको लेकर के आत्मा मिली उत्पत्ति विनाश मारा हुए और दूसरा कुछ तब धर्म तय विलक्षण इच्छा अवभाषते किन्तु अविवादात्म अविवेकात्मक को अवभाषते यत्र अनित्य विज्ञान से वो हो गया और दूसरा उनसे विलक्षण एक और भी अवभाषित होता है उसकी टीका को देखिए बुद्धि परिणाम रूपाराम नीलदीपादि प्रत्याराम उत्पन्न विनाश विनाशोत्पाद तदुपरक्त रूपेण नित्यम चेतन यत्र स्वनियोजी बात बुद्धि परिणाम रूपा नाम पीता प्रत्या नाम उत्पन्न विनाश उत्पन्न कई कुछ उपाधि से उपरत जिसे कुसुम के लारिमा से से अधिक हो जाता उसी प्रकार से उत्पन्न विनाश का कारण भी बुद्धि के परिणाम में था निर्विधा प्रति विनाशिता है उससे ऊपर होकर के आपको चैत्र में भाषित हो गया तो आपको लगता है ये आत्मा भी मेरा है नित्य चैतन्य चैतन्य ये एक ऐसा है जिसका सार रूपेण जिसका अधिष्ठान रूपेण चैतन्य बाहर है और ज्ञान आपको जीवन है सुशुद्ध रहेगा और जागरण का स्वप्न है बुद्धि के परिणाम के साथ उपलब्ध होता है बहुत जीव है तो दूसरा दो प्रकार के जीव आप ग्रहण कर सकते हैं लेकिन ही जो विक्षिप्त अवस्था में जीव है उत्थान अवस्था में है जो जिसको उत्थान अवस्था भी कहा जाता है इस अवस्था में रहने वाला जीव अपने बुद्धि के परिणाम होता पिता विज्ञान के सत्तात्म अध्यास को प्राप्त करके ग्रस्त होकर के तो स्वयं और का अपना बनती है लेकिन अवास प्रधान जिसका था वह जब चक्षुराधिकरण का विराम हो जाता है तब नित्य चेतन स्वरूप को लेकर के अंतस्कार होकर के स्थिर होकर के अनुभव होता है वो दूसरा लेकिन वहां आत्मा का अनुभव करने कभी नहीं छेद नहीं है केवल आवरण एक अवस्था है केवल आवरण वाला और दूसरा अवस्था कुछ ही आवरण वाला जीव अविवेकात्मक और विज्ञान वाला जीव विवेकात्मक जान रहा है लेकिन तब भ्रांति कोई अज्ञान विकास आवरण विकास संक्षेप में भ्रांति होती है लेकिन यहाँ वो पकड़ कर अत्यंत ही एक आत्मा और जब मैं जड़ बन के सो गया था वो कुछ भी पता नहीं है एक आत्मा जीव क्या बोल रही मैं कुछ भी नहीं जानता था कहा था कैसे पड़ा था कहा पड़ा ही सो गया था एक आत्मा जीव जागृति ये नहीं देगा मैं घर को देख रहा हूँ मैं जान रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ मैं ज्ञाता हूँ प्रमाता हूँ और मेरे द्वारा प्रमा उत्पन्न कर लिया गया है घट से प्रमा हो गया है इसलिए घट मेरा प्रमेय है प्रमा के प्रमेय प्रमाण का देव को लेकर व्यवहार करने लगा वहां भी चैतन्य अवभाष है यहाँ भी चैतन्य अवभाष है अंत है वहाँ मुख्य रूप में अज्ञान मात्र के साथ अवभाषित है और यहाँ पर बुद्धि परिणाम के साथ अवभाषित होता है ये अंतर जो अंतकरण से मनसो भी मरो तब उसके लिए कहते हैं इसके लिए हमें जो मंत्र आया सौ की मन मन का भी मन का जो मन है उसका भी मन ही आत्मा क्यों अंतर्गत तो बात सर्वांग श्रोते है शरीर करती है स आत्मा सर्वांतर ये जो आत्मा है ये आत्मा सर्वांतर अंतर्यामी के बारे में पूछा था महाराज जी जवाब दिए अंतर्याम शब्द नहीं है सर्वांतर्याम शब्द है ये शब्द आत्मा सर्वांतर ये उपदेश बलगम ने तो प्रमाण है इधर सर्वांतर है अंतकरण में भी अंतर है अंतर से अंतकर्ण से सूक्ष्म उसके भी सूक्ष्म होकर उसका भी अधिष्ठान रूप होकर उसको भी चेतनता को प्रदान करता उसको प्रेरणा देने वाला वो ठीक है यहाँ पर कह रहे देखो अन्य जीव के बाद में सर्वाणी यथा जीव विशेषणानी अन्य हम्म। विशेषण है जीव का क्यों दिया गया अन्य को स्पष्ट कर विदित से भी अन्य है अविदित से भी अन्य है इस को स्पष्ट करने के लिए दिया गया न केवल मणिकृतम विशिष्टोपाय रूढ़ विज्ञान से विज्ञान के अंदर विशिष्टोपाय से रूढ़ होने मात्र कारण से अनिकृतम मात्र है ऐसी बात नहीं है तब जन्म तो यही रहो वास्तव किंतु चैतन्य तद के लिए ही हो जाता है अभी तो इतना नहीं मनुष्य हम जाना भी यदि प्रतिशत लक्षणों भी चैतन्य हो भागते मनुष्य हम मैं अलग हूँ मैं देवदत्त हूँ मैं यज्ञदत्त हूँ अपने अपने आप को सब अलग अलग अलग मानता हुआ प्रतिशत एक से दूसरे को लक्षण हुआ चैतन्य को अवभाषित कर लेते हैं विशिष्ट विवाद क्योंकि विशिष्ट में भेद अभी एक आत्मक जो था जी उसमें कोई भेद नहीं आप जितने भी दुनिया में कहीं भी जाओ किसी पूछो तुम्हारी सुशक्ति का अनुभव क्या है सब एक ही बोलेगा हम सुख सोए है और मैं कुछ नहीं जानता ये दो वाक्य के अलावा कोई तीसरा वाक्य है अपने सुशक्ति के लिए प्रयोग तो कोई नहीं कर सकता एक ही अनुभव सारी दुनिया में इसका मतलब सारी दुनिया में एक ही चीज है इसलिए एक ही तरह का अनुभव हो रहा है एक जहां जग जाते हैं सब जाते हैं तो वो कहेगा मैंने ये स्वप्न देता वो कहेगा मैं वो देता अरे हरियाणा भूल रहे हैं जागृत में ही सब एक साथ पढ़ रहे हैं और यहाँ परीक्षा लिया जाए इनको जीरो मार्क्स मिलेगा दसी मार्क्स मिलेगा सब एक साथ पढ़ रहे हैं एक जो एक ही बात सुन रहे हैं किसी को अलग हम कमरे बुला के नहीं बात तो सुनाया नहीं फिर भी जो है ऊपर नीचे हो जाता है विशिष्ट इसलिए कहते लक्ष्य भी चेतना विशिष्ट भेदावित परमार्थ कीदृशम ये भी धर्मता होगा मुझे परमार्थ तो आत्मा कहता है जिससे मेरी सारी विशिष्टताएं पीड़ित धर्म भाषित हो रहे हैं तब उसने कहा अंतकरण से मनुष्य भी मन अंतर सर्वांत है ये विशेषण संबंधा स्वरूप समारोह की तो विशिष्ट भाती इसका मतलब विशेषणों के संबंध से स्वरूप में उन विशिष्ट धर्मों का आरोप हो जाने के कारण एक विशिष्ट जीव के रूप में भाषित होने लगा अपन अपनात्मक व्यवहार तो यदि वह मिथ्या है फिर उसमें आत्मत्व व्यवहार कैसे हो रहा है उसके तो लिए जवाब अंतर गतिविधि मुख्य विज्ञान स्वरूप हो रहा है आकाश अंदर है तो नित्य विज्ञान स्वरूप वो भीतर न हो आप घर को लेकर भी लगाकर शुरुआत कर रहे आगे क्या है घटे ही घटाकाश है आकाश आकाश आप नहीं आप आकाश को उठा के ले जा सकते नहीं आप ले जा रहे घट को व्यवहार क्या कर रहे हैं आप मैं घटाकाश ले जो जिसके अंतर्गत रहता है उसे परिचिन होकर उसको व्यवहार विषय नहीं करता है घटांतर और भी आकाश भी घट गमन व्यवहार का कारणीभूत होकर घटाकाश गमन का व्यवहार हो जाता है उसी प्रकार के यहाँ पर भी सर्वांतर है अंतर्गत है ना नित्य विद्या स्वरूप है जो विशिष्ट के अंतर्गत है तो जो विशिष्ट है जो हाथ पैर आदि वाला ज्ञानेन्द्रीय वाला कर्मेंद्रीय वाला अंतर वाला अनुभव कर रहा हूँ ये सारी विशिष्टता भी के भीतर इन सबका अधिष्ठान रूप में जो विद्यमान चित्त स्वरूप नित्य विज्ञान स्वरूप आकाशवत अप्रज्वलित आत्मना यद्यपि वो भी कैसे है आकाश के समान है अप्रज्वलित आत्मा है उसे कोई क्रिया नहीं होती आता ना जाता विशिष्ट क्योंकि विशिष्ट आना जा रहा है वो भी विशिष्ट का भी अंतर्गत है चित्त स्वरूप आत्मा उसमें आना जाना नहीं है घर आता जाता है एक घर के अंदर में जो आकाश है उसका आना जाना वास्तव में नहीं होता उसी में आकाशवाणी सर दृष्टान ने अप्रचरितात्मना अंतर्भूत बाह्य विद्यात्मा तय विलक्षण इनकी जो है ऐसा चित्त स्वरूप के साथ क्या हुआ आधात्म होने से अंतर्गर्भभूत हो क्या हो गया कहते हैं कि वह एक अंतर्गर्भ होने का आध्यात्म भाष हो जाने से वह तो गर्भभूत हो गया जैसे जो गर्मी होती है स्त्री उस उस अपने संतान जो अपने अंदर है उसके ही ताकत हो जाती है वो तो ये समझती भी पति रूप में मेरे अंदर है इसलिए भी पूर्ण रक्षा करेगी वहां आएगा इसीलिए पदे पति का कर्तव्य कि जिंदगी भर वाले पत्नी से सेवा ले गर्भिणी अवस्था में पति का ड्यूटी और पत्नी की सेवा है कारण ये भी होता है स्वाध्यास स्व से अभिन्न उसको मान रहे हैं और जो अंदर है उसको भी अपने पति से अभिन्न मानते वो मानेंगे ना वो रक्षा कर नहीं सकती मुझे आजकल की छोटी है मानती नहीं वो रक्षा करती नहीं गिरा देती तो भावना के ऊपर सब कुछ निर्भर है आपकी तादाद में अध्यास के ऊपर सब कुछ निर्भर है तो यहाँ पर निश्चित स्वरूप के साथ में इस बुद्धियादियों अंदर क्या हो गया अभ्यास अध्यास से वायु अध्यात्मा हो वही जो अंतर्गत था वह अध्यास होने से बाहर आ गया तो शरीर में आ गया तो सर्वांतर्गत है नित्य है अप्रचलित है वो भी लेकिन शरीर मन बुद्धि अंतर के साथ अभ्यास करके लगता है जो भीतर का भी बाहर हो गया वह सूक्ष्म जो था वो पूर्व ध्यान खड़ा मैं बोल ऐसे बोलने हो बाह्यो अनात्मा भी भाई कौन था अनात्मा वो भी आत्मा हो गया वो अनात्मा भी आत्मा हो गया क्यों क्योंकि अनात्मा का आत्मा के साथ आजाद हो गया इसलिए बुद्धि बुद्धि आत्मा मैंने अनात्मा आपकी बुद्धि तद विशेष तत्व आत्मा युवा तद लक्षण ऐसे कौन स्वीकार करते हैं लौकिक स्वीकृत तो समझ तद विलक्षण हो अरिच्छिद अग्नि दृष्टान क्या हो रहे हैं तय विलक्षण हो अरे उससे उत्सव से जो हो विलक्षण भी है जैसे ज्वालाओं के कारण अग्नि में आप कहते ज्वाला है बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे हैं उसे लगता है अग्नि बार बार ऊपर पर नष्ट हो रहा है उत्पन्न नष्ट हो रहा है अग्नि उत्पन्न नष्ट नहीं हो रहा लौ उत्पन्न नष्ट ये जो लोग है वो एकदम नष्ट हो रहा है अग्नि बहुत क्योंकि अग्नि एक, एक ऐसी चीज है जो प्रत्येक चीजों में व्यापी सिगरेट के अंदर भी अग्नि व्याप्त है लेकिन स्वरूप अलग रूपल में भी अग्नि व्याप्त है स्वरूप अलग उपाधि को मित्र इसलिए उपाधि में होगा अपने का प्रचार कर दिया अग्नि आरोप कर इसलिए जहां की अच्छी भी ही अग्नि जिसे हर चीजों में होता है उत्पत्ति नाश क्रिया को लेकर अग्नि में आप समारोपित कर देते हैं उसे शरीर में अनुपत्ति अहंकार आदि में होता हुआ क्रियाओं को लेकर आप आत्मा में और यदि आत्मा को कह रहे आत्मा सुखी है वह आत्मा दुखी है एक बहुत मोटा हो गया है ये दुबला हो गया है यह आत्मा ना मोटा होता है आत्मा में दुबला होता है न आत्मा सुखी होता है न आत्मा दुखी होता है लेकिन अचिवराग्नि सत्य आविर्भावोत्तर भाव धर्म कई ही आवास रूप ही अनित्य ही अनित्य आत्मा सुखी दुखी की जगत लौकिक ये वो आत्मा कैसा है इस बुद्धि आत्मा से लक्षण नित्य चैतन्य रूप हो चुके हैं अंतर्गत है ना नित्य स्वरूप हाँ? नित्य विज्ञान स्वरूप ये सब प्रेम के भाषा में अंतर्गत गति ना नित्य ज्ञान रूपेण कर दिया है तो वैसा होते ही नित्य विलक्षण और उसकी के विलक्षण का क्या है अनित्य अर्चवरी यथा तथा प्रत्यय ही प्रत्यय में मतलब बुद्धिजन ज्ञान नित्य ज्ञान तो कैसे है आविर्भाव भाव मत ही उत्पत्ति विनाश धर्म वाले हैं विज्ञान आभाव धर्म तो विज्ञान नहीं है विज्ञान आभास है वो अनित्य है उन्हीं के कारण से इस नित्य विज्ञान के अंदर क्या कह दिया अनित विज्ञान आत्मा अनित विज्ञान वाला आत्मा है उसको सुखी कह दिया उसको दुखी कह दिया कौन लौकिक कौन लोग ऐसे करते हैं लौकिक लोग ज्ञानी लोग ऐसा निश्चय कर लेते हैं स्वीकार कर लेते दृढ़ ज्ञान कर लेते हैं अति अन्य लेकिन वास्तव में क्या है उससे भिन्न है नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उससे इसलिए इस जीव आत्मा अलौकिक जो अलौकिक स्वीकृत है जो वो आत्मा अलग है कैसे मान नहीं करेगा तत्व ज्ञान अपेक्षा वो जो अज्ञानी जीव है ना उसको विज्ञान की अपेक्षा है चर्चा जो चल रही कहां चल रही कल का प्रसन्न करो ध्यान रखना है उसने ये कहा पूर्व पक्ष ने समझा किया यदि कथन अभिप्राय वाक्यों की अपेक्षा से हमें ब्रह्म ज्ञान होगा तो आखिर ब्रह्म ज्ञान शब्द ज्ञान अपेक्षा किया कि नहीं किया आप कहेंगे आत्मा को जानो मैं आत्मा को जान रहा हूँ जाने वाला मैं मैं आत्मा को जान रहा हूँ आत्मा के घटक जी से तो देख लिया गया और विज्ञान की अपेक्षा कर रहा है ये पूर्व पक्षी की शंका थी अभी लोग सम्मान कर रहे हैं विज्ञान की अपेक्षा वास्तव में किसने है उसको बताएंगे सारी लंबी चौड़ी भूमिका चर्चा विज्ञान की अपेक्षा को पहला पूर्णा के कारण भ्रांति से स्वीकृत लौकिकों के उपगत तो अनित्य विज्ञान आत्मा को विज्ञान की अपेक्षा नित्य विज्ञान आत्मा को विज्ञान की अपेक्षा वही कह रहे हैं तत्व ही विज्ञान अपेक्षा विपरीत ज्ञान पंच उपपदित वो जो लौकिकों के द्वारा स्वीकृत हो जीवात्मा जो है चाहे ज्ञान अवच्छिन्न हो चाहे सूत्र प्रत्यय में प्रतिबिंब रूप आभाषित क्यों हो अज्ञान प्रतिबिंब रूप आभाषित क्यों न हो चाहे प्रत्येक प्रत्यय के साथ आयत होकर के प्रतिबिंब रूप आभाषित क्यों हो ऐसा जो विशिष्ट जो चैतन्य था विशिष्ट जो जीव था चाहे विवेकात्मक है चाहे विज्ञान सामने घटपटादी का विवेकात्मक क्यों हो दोनों ही प्रकार के जीवात्माओं को वास्तव में विज्ञान की अपेक्षा है और वे ही वास्तव में विपरीत ज्ञान भी बने शुद्धात्मा विपरीत ज्ञान नहीं होता यदि वे ज्ञान पंचो बदले न केवल निश्चित ज्ञान नित्य विज्ञान में ये होता नहीं न तो महाविज्ञान की अपेक्षा है न तो विपरीत ज्ञान इसे नाम जाना नहीं है दूसरे का था विवाह होता है तो किसकी बात है वो तो अज्ञान अविवेकी का बात है नित्य विज्ञान कभी नहीं कहता कि मैं नहीं जानता मैं अपने आप ऐसा कोई नहीं इधर लगता है युक्ति को समझाया जाए व्यक्ति समझ भी लेता है क्या उसे पूछो भाई तुम क्यों चाहते हो सदा बने रहना मरना क्यों नहीं चाहते हो नहीं नहीं मैं क्यों मरू ये चाहता हूँ कि अमर हो जाओ उसे कोई जड़ी बूटी हो तो बताओ क्यों अमर होना चाहते हो ही बने रहू नाम भूम भूआ भूया समेव ऐसा क्यों अनुभव कर रहे हैं लोग कोई ऐसी चीज है जो नित्य तो सत्य जिसको मां जान रहा है कि उसी में भी नहीं मैं सकता तो उसी के रूप में रहना चाह रहा है लेकिन गड़बड़ क्या कर रहा है उस नित्य सुबह चाह रहा है उस शरीर की आत्मा शरीर मरने वाला चीज है और उसको लेकर क्या कर रहा हूँ मैं ही मर रहा हूँ ये सोच करके देता है कि मैं सदा बनी रहूँ तो जो कभी सदा बने नहीं रह सकता उसको लेकर क्या रहा है मैं सदा बने रहे और ये वो बना ही है वो कभी नष्ट होता ही नहीं उसमें दो चाहे नष्ट होता है तो इधर को जड़ी बुटी लाओ तो इधर को लाओ अभी वो सदा बने रहे ये उनका सोच किसमें है ये अज्ञानी जीवन है ये काम इतनी ज्ञान तो हो ही नहीं सकता है इसलिए सत्य में बोल रहा उपदेश और कहते फिर यदि ऐसा है लिपि विज्ञान का विज्ञान आनंद की होती है तथा तुलसी इत्यादि वाक्य जन ज्ञान भी नित्य वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस बोध का भी उपदेश का भी बोधों को ज्ञानोपदेश का भी कोई जरूरत नहीं है बनता है नित्य बोला पूर्वता इसका भी पूर्व है विजय न आ गया इसी पूर्वशी पक्षी व्याख्या है तो जो बोला गया ना उसकी एक पंक्ति और व्याख्या कर रहे हैं दो पंक्ति बन गई आत्मन तत्वसी आदि नित्य बोधा प्रपात क्यों नहीं आदित्य अन्य न प्रकाशित है क्योंकि आदित्य जो है ना किसी दूसरे से प्रकाशित नहीं होता अगर तदर्थ बोलो प्रदेश अलग रहेगा इसीलिए उसको आदित्य को बोध कराने के लिए कोई उपदेश नहीं वो तो जाते ही निशान दिखाई दे रहा है उपदेश देकर समझाओगे तो सामने दिखाई दे रहा है उसको निर्देश देकर समझाने की कोई जरूरत नहीं है जैसे आदित्य जो सामने दिखाई दे रहा है उसको आप देश के द्वारा समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता अरे यही सुनू है ये जो दिख चमकने वाला इसी का नाम सूर्य है इन्हीं के प्रकाश वाला है तो नहीं है बोलो अरे हैया और दिखी रहा है तो क्या पड़ रहा है ये मतलब बताया जा रहा है उसी प्रकार से यही विज्ञान स्वरूप है और उसको विज्ञान की अपेक्षा तो ही नहीं है तो समझ जाएगा प्रयोग करना ही आप बता रहे क्यों आने से आता दृष्टा में क्यों बोल रहे हो क्योंकि चिन्ह अगर तदर्थ बोलो उपदेश अर्थ के पीछे ना इसलिए पार्षित विज्ञान को बोल करने के लिए जो उपदेश दिया ये हो ये व्यक्ति है अब सूत्र लाया लोक अध्यारोप सत्ता लोक अध्यारोप अपोहार ये जो अज्ञानी जीव ने अध्यारोप कर रखा है उस अध्यारोप का अपवाद करने के लिए अपोह करने अपवाद करने के लिए इस उपदेश दिया गया उपदेश विज्ञान का बोध कराने के लिए जरूरत नहीं है किंतु लोकापवाद लोक का जो आरोप है उस आरोप का अपवाद करना अध्यारोप अपवाद अभियान निष्पंचन इसके लिए फिर तो उपदेश है ये तो उपदेश की कोई जरूरत नहीं आप अपने नित्य विज्ञान को जान लिए हैं राव के लिए उपदेश बेदारी है कोई फायदा नहीं चाहिए क्या तो क्या सर्वात्म नहीं नित्य विज्ञान है किसी तरह क्या कर रहे सूत्र कर सर्वात्म तो नित्य विज्ञान बुद्धिया अनित्य धर्मा लोक अध्यारोपिता जो सर्वात्मा है नित्य विज्ञान रूप है उसमें बुद्धिया अनित्य धर्मा लोक अध्यारोपिता बुद्धि आगे यदि धर्मों को लोगों के द्वारा ज्ञानियों की तरह विवेकियों के द्वारा आरोप कर दिया गया है आत्मा विवेक क्यों उनको आत्मा क्या मालूम नहीं है इसलिए आरोप कर देते पर अपार तो बोधोपदेश हो बोला कुछ आरोप का अपोह करने के लिए बोलात्मा के बारे में बोधोपदेश है ज्ञान स्वरूप आत्मा के लिए तत्व क्या शब्द ज्ञानों का उपदेश किया गया बोधात्मा तो इस बोधात्मा के अंदर जो किया गया उन आरोपों का अपोह करने के लिए निवारण करने के लिए अपवादित करने के लिए बोध उपदेश बोध उपदेश किया जा रहा है तत्व बोधा बोधो समंजस इसीलिए आरोप को लेकर के और आरोप भाव को लेकर के बोध अबोध दोनों ही शास्त्र में समझ कोई विरोध नहीं बोधा बोधोचा पत्र समंजस कोई असामंजस्य नहीं अज्ञान और अज्ञान दोनों ही करा आप जिसको ज्ञान कराना है जब आरोप दूर करना है अज्ञान क्या है उसमें आरोप है आरोप अज्ञान आत्मा है आरोप निवारण नहीं उसमें ज्ञानात्मा उसके अलावा वास्तव में कोई ज्ञान या वास्तव में कोई अज्ञान नाम करके चीज नित्य ज्ञान परमात्मा में यहाँ भी बहुत सुंदर टीका है थोड़ा इसको जानना चाहिए क्योंकि सुबह शास्त्रार करके समझा रहे हैं प्रपक्ष विशिष्ट से मिथ्या मिथ्याचार तत्वसी जहां से आज की जो प्रपक्ष शुरू हुआ था वो अध्यापक अपवाद पहले तत्वाचिति बोधापदेश अनुपदेश इसकी टीका पृष्ठ में विशिष्ट से नित्यात्मा ब्रह्मात्मी की अनुभव अयोगा मोक्षारत्व अयोगाच्य तत्व से उपदेश न घटते चेत अरे ब्रह्मणयो उपदेश अस्थिति आशंका विशिष्ट से नित्या तो विशिष्ट नित्या है और ब्रह्मात्मी की अनुभव अयोगा इसलिए ब्रह्मात्मी का अनुभव तो हो ही नहीं सकता नहीं जिसको शरीर को कभी ब्रह्म नहीं लगते हो और जो ब्रह्म शरीर वो नहीं लगता तो शरीर हो गए ब्रह्म नहीं हो सकता शरीर को आप ब्रह्म करके समझ नहीं सकते इसलिए शरीर को समझाना मन बुद्धि अहंकार को समझा देगा है ये कभी तो ब्रह्म हो नहीं सकते और जो ब्रह्म है कभी कहा हुआ है नहीं उसने वहां कोई दोष तो आया नहीं था इसलिए हम ब्रह्मा के हिसाब वो उसमें तो हो नहीं सकता और ये जो शरीर विशिष्ट है वो मोक्ष योग्य ही नहीं मोक्ष अनुदान चाहिए उपदेश ही उपदेश ब्रह्म का ही उपदेश है अप्रत्याशी तब भी व्यवस्था नहीं हो सकता दुर्देश कहता है इत्यादि विषय एवं आदि ब्रह्मोपदेश पक्ष न है ब्रह्म को उपदेश देना भी व्यर्थ है अज्ञानी को उपदेश देना भी व्यर्थ है तब भला भावा ब्रह्म को उपदेश क्या फायदा तो तो कुछ कोई फर्क निकलेगा नहीं कुछ उपदेश विशिष्ट अभी निरुपाधिक ब्रह्म रहा चाहे विशिष्ट ब्रह्म हो चाहे निर्बाधिक ब्रह्म हो दोनों में किसी को भी ये उपदेश असंधर्य उपदेश बने नहीं है किंतु उपाधि विशिष्ट चित्त स्वरूप जीव पद लक्ष्य से वैशिष्ट द्वारे उपदेश भविष्य फलम तस् आरोपित बंद निवृत्ति न लोक अभ्यारोप सिद्धांत कहता है केवल विशिष्ट को उपदेश देना भी बेकार है मान लेता हूँ केवल निरूपाणी पर को उपदेश देना भी व्यर्थ मान लेता हूँ किंतु वैशिष्ट द्वारा जो उपदेश दिया जाता है किसको कहते हैं उपाधि विशिष्ट को उपाधि से विशिष्ट जो चित्त स्वरूप में जीव पद लक्ष्य होता वैशिष्ट द्वारे में द्वेषो लक्ष्य का बोध कराने के लिए वैशिष्ट के द्वारा उसको भेज दिया जाता है उसका तो अवश्य ही भविष्य फलम तो उसमें निर्णय हो जाएगा कि भाई ये जो उपाधि थी वो उत्तम इसलिए तस्या आरोपित बंध निवृत्ति आदर्श विशिष्ट जीव के अंदर जो आरोपित बंधन है उसकी निवृत्ति ही फल होता है लोक न लोक अध्याय इसलिए विचार कर रहे मैंने लोक शब्द आत्मा चुप्पन आत्मा कौन आरोप किया है लोगों के लोक के द्वारा आरोप हुआ आपने कर दिया कौन लोक के द्वारा आरोप हुआ लोग शब्द आप ना ये लोगों को नहीं ना वो लोग गोर हाँ। लोग सब लोग लोग भी जीव उन्हें कौन सा शुद्ध लोग आत्मा के जो अनात्मा अभ्यास इसको लोग आत्मा करे लेना व्यर्थ लोग शब्द आत्मा अधिष्ठान दिया आत्मा तो खुद अधिष्ठान अध्यात्म कर्तृत्व असंभव वह अज्ञात का आरोप का कारण नहीं बने वो आरोप स्वयं अपने ऊपर करेगा ब्रह्म अपने ऊपर अज्ञान आरोप कर लिया पहले बोल चुके हैं प्रक्षालनादि पंक्तिया दूरा दस प्रश्न धर्म क्यों ब्रह्म अपने ऊपर कीचड़ उछाल लेगा फिर धो लेगा उदाहरण हाथी है क्या हाथी ऐसे कर रहे खूब नहा रहता है तो फिर बारह घर पूरा मिट्टी अपने बना दी फिर जाएगा नहा करके आए ऐसा हो नहीं ब्रह्म इसलिए कहते ऐसा तो हो नहीं सकता असंभव चैत्र शुक्ति आयाम रजत मध्य स्थिति यह का ये क्योंकि अध्यास आरोप करने वाला कौन होता है हमेशा उस अधिष्ठान से नहीं होता है और रजता जो है रजत के आरोप अधिष्ठान माने शुक्ति और उस शुक्ति में रजत का आरोप कितने की शुक्ति ने नहीं दिया अपने रजत का आरोप चैत्र ने शुक्ति में रजत का आरोप किया है इसलिए ब्रह्म अपने आरोप कैसे कर देगा क्या हमने तो ब्रह्म अधिष्ठान है जिसमें आरोप हो रहा है शुक्ति के समान है ब्रह्म और आरोप क्या है आदि का जो आरोप किया है ये हो गया रजत कौन कर रहा है इन दोनों से अलग होना चाहिए दोनों इसीलिए ये दृष्टा ये तो आत्मा का सबसे शुद्ध लोक सबसे शुद्ध आत्मा को नहीं ले सकते वो अपने में किसी चीज का आरोप कर नहीं सकता अध्यास कर्तृत्व आत्मना प्रागे अध्यास कर्तृत्व वर्ष से भी अध्यास कर्तृत्व जातना दूसरी बात आत्मा के अंदर अध्यास कर्तृत्व को स्वीकार कर लेते हो अध्यास से पहले उसे कर्तृत्व रहना पड़ेगा जैसे आपके अंदर पाप कर्तृत्व है क्यों क्यों आप पाप करता है तभी आप पाप करता हुए आप कर्तृत्व आपने रही हुई पाप कर्तृत्व आ जाएगा आपके अंदर पहले ऐसे कर्तृत्व भोक्तृत्व रहेगा तभी तो आप कहोगे मैं अमुक चीज को किया इसलिए आगे कर्तृत्व सामान्य के बिना अध्यास कर्तृत्व आ नहीं सकता ये आत्मा के मेरा आपको अध्यास कर्तृत्व तो मानना पड़ेगा फिर प्रागेव अध्यास अध्यास हुए उस आत्मा में सामान्य कर्तृत्व मानना पड़ेगा कर्तृत्व लक्षण और कर्तृत्व तो से प्राग भाव नियम क्योंकि जो कर्तृत्व का प्राग भाव स्वीकार किया गया है अनुक्षेत्र सिंह यदि अभ्यास से से ही आत्मा में कर्तृत्व रहेगा तो फिर वो कर्तृत्व को लेकर के आत्मा हमें लेकर शुरू कुछ अध्यास करते हैं एक अध्यास बता दो दूसरा अध्यास कर करना है क्या करें आत्मा आप ही किए और उसमें जो कर्तृत्व रहेगा वो नीति कर्तृत्व होगा और नित्य अभ्यास करते रहेगा कुछ ना कुछ कितने सफाई करोगे इसलिए जो है ये काम तो आचार में कर्तृत्व तो मानना बिल्कुल उचित नहीं है और अध्यास कर्तृत्व मानना तो और भी असंभव है नहीं तो मोक्ष ही नहीं होगा कर्तृत्व से अध्यास अपेक्षा न कर्तृत्व आत्म तो विषय कर्तृत्व प्रभाव और कर्तृत्व से अध्यास अपेक्षा और कर्तृत्व में अध्यास किया ना न कर्तृत्व आत्मा इसलिए जो है आत्मा में वास्तविक कर्तृत्व है नहीं विषय कर्तृत्वान प्रभाव जो पूर्व पक्षी कहता है फिर तो आप तदविषय कर्तृत्व कर्तवन कर नहीं रहे फिर कहा से आया ये बताना तो बढ़ेगा यहाँ भी मिथ्या आ गया मान लिया आपने चलो मिथ्या कर्तव्य थे आत्मा के अंदर आया तो मिथ्या में कौन है अभ्यास करता जो था उससे भिन्न व्यक्ति कर्तृत्व आएगा क्योंकि पहले जो कर्तृत्व आया उसके वजह से अभ्यास कर्तृत्व आया सामान्य कर्तृत्व को लेकर के ही विशिष्ट कर्तृत्व आएगा तो यदि विशिष्ट कर्तृत्व का कारण सामान्य कर्तृत्व और सामान्य कर्तृत्व का आरोप कौन किया तो आत्मा का बड़ा कर्तव्य मान रहे हो और आत्मा कौन लाया कुछ नहीं हो गया वो तो आए वो पहले ही होकर आएगा क्योंकि कर्तृत्व के द्वारा अध्यास कर्तृत्व आना है तो विशिष्ट होगा विशिष्ट होगा तो वो कर्तृत्व होगा उसका ग्रहण कर दीजिए अरे बेटा पैदा होगा बाद में बाप पैदा हो जाएगा ये कैसा बनेगा इसीलिए ये व्यवस्था आपकी बनती नहीं है भावे चवस्थाना भावे चा कृति विषय कृत्य बदले कृति विषय कृति उसके निर्माण लोगे जो भी मानोगे उसके अंदर वो जल्दी किए फिर आप एक दूसरी मिथ्या कर उसके लिए एक और मिथ्या कर तुम्हारे पड़े तो अवस्था देखिए भावे के मन आत्म के अंदर उस कर्तृत्व को मान लेंगे अनवस्था हो जाएगी अतः शुद्ध आत्मा को लोक शक्ति से मिल सकते हैं अशुद्ध आत्मा बनेंगे न द्वितीय जड़ पर अनात्मा अभ्यास करके भुगतते क्योंकि जड़ जो अनात्मा है वो अपने के अंदर कर्तृत्व अभ्यास करने लगे ये तो शरीर जो है अपने अंदर कर्तव्य अभ्यास नहीं करेगा शरीर तो जड़ मन बुद्धि अहमदार सारे जड़े और ये जड़ जो है आपके अंदर कर्तृत्व कहाँ से लाया पहले आपके अंदर कर्तृत्व लाएगा फिर कहेगा मैं अपने अंदर अभ्यास भी कर लिया था क्यों मेरे अंदर कर्मियों की क्षमता थी ना ये करता था इसलिए मैं अपने अंदर अभ्यास कर्तृत्व भी लाया ऐसा बोल सकते हैं मंदिर की अहंकार उचित शरीर उनकी तो जड़ है तो अपने अंदर मैं कर्तृत्व ला सकते हैं अभ्यास कर्तृत्व ला सकते हैं लाए किसी कहा से कर वासना उसके लक्षण बात है का चेतन ही देवदत्ता जयस्यति प्रसिद्ध क्योंकि जो देवदत्त है चेतन है वो अभ्यास प्रसिद्ध है लोग जो चेतन देवत है तो वही रजत को शक्ति नहीं मिलेगा कोई जरा आगे नहीं लेगा प्रेरणा रजत को शक्ति नहीं देगा क्या तो चूहा शाम को देख लेगा क्या रसी में चूहा चेतन देख भी सकता जगत में स्वीकार कर देते हो और वाले को स्वीकार करेंगे इधर भी चलाया जाता है नहीं चलाया अगले साल भी मुंह में घुस जाता है उधर से बिल लगेगा अगले साल को मेरे होते में समझ में उल्टा जांच कर लेता है मुंह बोल में बैठता है तो फिर समझ सीधा आराम से लगा इसलिए मैं कहना कि देखो जड़ है जड़ का आरोप कर नहीं सकता अब जगत से अध्यात्म नामा भ्रांत्याश्रितम उत्तम संभवती इसलिए जड़ के अंदर अध्यास नाम का चीज भ्रांत आश्रितम अध्यास कर्तृत्वम ये जो चीज है ये जड़ के अंदर यद्यपि न संभव अध्यास कर्तृत्व भ्रांति का रोपी जो चीज है अजात में यद्यपि संदर्भी भ्रांति निमित्तम दृष्टम जपा कुसुम है भ्रांति के निमित्त जिसे जपा कुसुम क्या है स्फटिक लालिमा की भ्रांति है वे निमित न तो स्फटिक ने उसके अंदर लालिमा को डाला न तो स्फटिक ने उसकी लालिमा को आपने लिया स्फटिक ने उस लाल रंग को आपने नहीं लिया न तो पशु ने लाल रंग को स्फटिक में डाला क्योंकि सान्निध्य मात्र से ही काम बन जाता है इसी प्रकार से आप में बुद्धि नाम का जैसे जड़ कार्य पैदा हो गया तो जड़ बुद्धा बुद्धि का सानिध्य मात्र से ही चेतन में कर्तृत्व जाना कोई करता नहीं है ना आपको थोड़ा पर्सन आपको तीसरा आदमी नहीं गया कुसुम है स्फटिक कोई तीसरा आदमी उस कुसुम के लाल रंग को स्फटिक में डाल नहीं रहा है दो ही है और आपस में दूसरे उसका रंग उसमें चला गया कैसे चला गया संविधि मात्र से गया अर्थात उस स्फटिक में दिखाई दे रहे जो लाल रंग उस तो लाल रंग का निमित्त हुआ उसी प्रकार जिस चेतन में अनुभव होता हुआ जो कर्म उसका निमित्त विज्ञान तो से सर है तथापि निमित्त तत्व समाधि न सबसे सत्य उपाधि संभवाद भाषिकार मत से सर्वस्व अध्यास वो जो सत्य आत्मा है वो उपाधित हो नहीं सकता और भाषिकार के मत स्पष्ट है तो जड़ से सर्वस्व अध्यासात्मक अध्यास जितने भी संपूर्ण जड़ है वो अध्यासात्मक ही है वो अध्यास का कारण नहीं हो सकते अस्मा असंभव एवं भाष्य इसलिए भाष्य बिल्कुल गलत है कि लोक अध्यास कर निर्माण करने के लिए ये जो है उपदेश है क्योंकि आप यदि मान अध्यास का कारण निमित्त मानना चाहते हो ये दृष्टान के द्वारा एक मत ये निकला भाई निमित्त है बुद्धि अहंकार आदि इसलिए पकड़ पूरा ध्यान के लिए कि तब हो जाना जब वो स्वतंत्र सत्ता वाले हो तो अनध्यात्मिक वस्तु हो उसे जपा प्रसन्न अनध्यस्त वस्तु है स्फटिक भी अनध्यस्त अध्यक्ष क्या है वहां केवल लाल रंग है यहाँ ऐसा दो स्वतंत्र है क्या आत्मा और पुजारी दो पर आत्मा स्वतंत्र है और उसका निमित्त जो है शरीर आदि है इन शरीर आदि निमित्त को लेकर तो आत्मा में कर्तव्य का अभ्यास हो गया ऐसे भी कहोगे तो शरीर आदि सचेत है और आपका वास्तविक सिद्धांत क्या इसलिए वेदांत में ये शरीर मन बुद्धियों करा देगी अभ्यास ही है आत्मा में कर्तृत्व है अभ्यास ऐसे इस शरीर आदि भी क्या है वो भी अभ्यास ही होगी मिथ्या ही है क्या मिथ्या आपको सत्य के प्रति कारण बनेगा घन समझा ये मिथ्या वस्तु मिथ्या कर्तृत्व के प्रति कारण बन सकता है क्या निमित्त बन जाएगा तो। इसलिए कहते कि देखो सत्य से उपायित तो असंभव सत्य के अंदर उपायित नहीं हो सकता और भाषिकार के मत के अनुसार वास्तविक मत के अनुसार जो है संपूर्ण जड़ है ना वो खुद अध्यासात्मक है इसलिए निर्जड़ अध्यास कारण नहीं हो सकते तस्मात असंगति जो भाष्य इधर भाष्य ही पूर्वोत्तर भाष्यों को देखने से लगता है ये पंक्ति गड़बड़ बनती है क्यों अध्यास करने वाला कोई है नहीं फिर आप देखेंगे लोक केवल अध्यारोप लोग संसार के मिले नहीं है शुद्धात्मा है उतना अनात्मा तो क्या है लोक शब्द वाच्य लोक शब्द अहंकार आवेश चिंते हम्म। लोक शब्द इसमें क्या कहना पड़ेगा अहंकार आवेश चिंते व्यावहारिक सत्व से अर्थक्रिया समुत्व महा और उसमें सत्यत्व महानी अहंकार जपा कुसुम के समान ये भी सत्य पहले पारमार्थिक स्वरूपता नहीं आध्यात्मिक कर्तृत्व के लिए अध्यात्मिक के बावजूद भी इन अहंकार आदि को व्यवहारिक सत्यमान करके अध्ययन करा इसे करते हैं तेजा व्यवहारिक सत्यत्व से अर्थ क्रिया समर्थत्व अभिमान इन अहंकार आदि के अंदर व्यावहारिक सत्यत्व को लेकर के हमने कैसे स्वीकार कर व्यावहारिक सत्य अर्थ क्रिया समर्थत्व किसी प्रयोजन को लेकर किसी क्रिया के साथ व्यवहार कर योग्य होने तो के कारण से हमने उसको आवश्यक मान लिया है स्वधर्म आरोप निमित्त न उपाधित संवाद इसे स्वधर्म का आरोप के निमित्त बनने में कोई दोष नहीं है परमार्थ सत्य सेवा उपायुक्त नित्य अस्मान कभी दृष्टान अभाव क्योंकि हम ये नहीं जाए परमार्थ सत्य वस्तु ही उपाधियों का है दो परमार्थ वस्तु होना चाहिए तो ये उपाधि भी परमार्थ होना चाहिए उपधे भी परावर्तन परमार्थ होना चाहिए तब इन दोनों में परस्पर अभ्यास होगा ऐसा हम नहीं कर पारमार्थिक वस्तु में अपारमार्थिक वस्तु के माध्यम से अभ्यास हो सकता है तो कह रहे हैं हम उस बात के लिए दृष्टांत नहीं दे रहे हैं किस बात के लिए कहते थे कि परमार्थ सत्य सत्य से उपाय असमान प्रति दृष्टान भाव अंगारावेश चित्तंत्र अनार्य अनिवाच्य अविद्या मूलभूत सूक्ष्म विकारा अविद्यावच्छिन्न यह चैतन्य इधर अहंकार आदि वास्तव में क्या है चित्तंत्र होकर के अनाज विद्यमान जो अनादि अनिरोचनीय विद्या है उसी विद्या मय है वो वो सूक्ष्म का विकार है वो और अविद्या वचन चैतन्य में सारे के सारे वास्तव में अभ्यस्ती है उपाधि विकार कही पक्ष पक्षपातया उपाधि के विकार उपहित में अपने आप गृहित हुआ करते हैं यथा जल जल चरण आदि नाम अर्थात नागतम भाष्य इस भाष्य जो कहा गया और कोई असंगत नहीं है तो ठीक है जब इस आत्मा का ज्ञान नहीं आत्मा का बोध नहीं नित्य प्रकाश रूप स्वप्रकाश है ऐसी स्वप्रकाश वस्तु वो नित्य तब कहते देखिए भाई बात कहना सुनेंगे बोधात्मा नाबोध समंजस तो ये बोधात्मा है शुद्ध प्रेम ज्ञान सुन ही है उसमें अज्ञान होना ठीक नहीं है प्रकाश अप्रकाश और विरोध